यम ब्रह्म सर्वात्मा विश्व से आयतन महत सूक्ष्म सूक्ष्मतरम नित्यम तत्वमेव तमेव तत् जो पर ब्रह्म नित्य है तत्वमेव तमे तत् ज्ञाता श्रोता और ब्रह्म अत्यंत अभिन्न है उपदेश किया जाता है जिसको तम तत् तत्वसी आदि महावाक्य है वही अर्थ है एक ही है अविद्या से अपने को कर्ता भोक्ता संसारी मानते हैं स्वरूप के अज्ञान के कारण स्वरूप के ज्ञान होने से अज्ञान की निवृत्ति हो जाती है तो अज्ञान का कार्य जिस प्रकार रज्जु अज्ञान का कार्य रज्जु में सर्प रज्जु ज्ञान होते ही अज्ञान की निवृत्ति होती है सर्प नहीं दिखता है सर्प जैसे लगने पर भी मिथ्या तो निश्चय हो जाता है इस प्रकार ब्रह्म ज्ञान होने के बाद इसका फल आगे कहते हैं अज्ञान का कार्य में मिथ्यात्व निश्चय हो जाता है इदानीम एवं ज्ञान फलम आह अहम अस्मि ब्रह्म से ज्ञान हो जाए तो क्या लाभ है फल क्या है जाग्र स्वप्न सुसुप्त्यादि प्रपंचम यत प्रकाशते तद्ब्रमाहमिति ज्ञावा सर्वबंधे ही प्रमुच्यते सर्वबंधे ही प्रमुच्यते फल का तद्ब्रह्म अहमिति ज्ञावा वही ब्रह्म में हूँ ऐसा जानने पर सर्वबंध से मुक्त हो जाता है बंध मुक्त हो जाता है अविद्यास्तमय मोक्ष साच बंध उदाहृत अविद्या ही बंध है जब तक अज्ञान है तब तक बंध है अविद्यास्तमय अविद्या के निवृत्ति है मोक्ष अविद्यास्तमयो मोक्ष साच बंध उदाहृत सा अविद्या बंध है तो अविद्या की निवृत्ति ही मोक्ष है तद ब्रह्माहम इति ज्ञातवा तो ब्रह्म में हूँ ऐसे ज्ञान होने से ज्ञान होने से अविद्या निवृत्ति ज्ञान होते अविद्या निवृत्ति वो अविद्या निवृत्ति हो गई वही बंध मुक्त मोक्ष है बंध से रहित तो हो गया अब ब्रह्म कौन सा ब्रह्म है तद ब्रह्म जागृत स्वप्न सुश्रुत्यादि प्रपंचम यत प्रकाशते जागृत स्वप्न सुश्रुति आदि प्रपंच को प्रकाश करने वाला ही ब्रह्म वही मैं हूँ जागृत स्वप्न सुश्रुति को जानने वाला आप तो जागृत को जानते हैं स्वप्न के समय में आप रहते हो क्या जागृत स्वप्न दोनों को जानने वाले सुश्रुति को जानने वाले आप है आपसे भिन्न कोई आपकी सुश्रुति आप जानते हैं अन्य की सुश्रुति आपको मालूम होता है कोई व्यक्ति से हुआ तो पता चल जाता है सुश्रुता है क्या कभी कभी जान बुझ करके कुछ करना पड़ेगा तो लेट जाते निधि से सोया बुलाने पर हम यहीं जगेगा सुश्रुति अवस्था है स्वप्न अवस्था है जागृत है सुन रहा है तो अपने सरस्वती का प्रत्यक्ष अपने को होता है दूसरे सरस्वती का कभी अनुमान करेंगे कभी भ्रांति हो जाएगी किंतु अपने सरस्वती में प्रत्यक्ष होता है मालूम होता है मैं अभी सुश्रुति अवस्था में हूँ उस समय मालूम नहीं होता है किंतु उठने के बाद कहता है कुछ पता नहीं चला सो गया था कोई यदि कहेगा मैं कल बुलाया आप कहाँ चले गए थे कमरा में तो नहीं थे वो सुना नहीं बिल्कुल तो क्या कहेगा मैं पता नहीं कहाँ से में कहाँ चला गया होगा ऐसे कहता है नहीं मैं कहीं नहीं गया कमरा में था भाई बहुत बुलाया सुना नहीं और सो गया था गाल नींद आ गई सो गया था किंतु कमरा में था तो सुश्रुति अवस्था में मैं था सुश्रुप्ति अवस्था का अनुभव यदि नहीं होगा सुश्रुति अवस्था है कि हे करके कैसे पता चलेगा सुश्रुति अवस्था हे करके आप मानते हैं नहीं कैसे पता चलता है अनुभव नहीं होगा तो अनुभव होता है जिसका अनुभव नहीं हुआ उसमें संशय हो सकता है सुश्रुति अवस्था में तो अनुभव होता है कि गाढ़ निद्रा में सो गया कुछ पता नहीं चला तो स्मरण होता है जगने के बाद तो उसी सुश्रुति अवस्था में भी सुश्रुति का साक्षी रूप से आप रहते हैं स्वप्न का दृष्टा जागृत का दृष्टा जागृत स्वप्न सुश्रुति आदि प्रपंचम तीन अवस्था है आदि से तीन अवस्था में रहने वाले प्रपंच है स्थूल सूक्ष्म कारण स्थूल प्रपंच जागृत अवस्था में स्वप्न अवस्था में सूक्ष्म प्रपंच सुश्रुति अवस्था में कारण अज्ञान और आदि शब्द से लेना उसकी अभिमानी जागृत प्रपंच प्रपंच अभिमानी जागृत प्रपंच स्थूल प्रपंच है समष्टि स्थूल अभिमानी कौन है विराट वैशान और स्वप्न अभिमानी समष्टि सूक्ष्म सर अभिमानी हिरण्य गर्भ और कारण उपाधि का ईश्वर व्यष्टि में विश्व तेजस प्राज्ञ ये जितने जागृत स्वप्न सुश्रुति आदि प्रपंच सब कुछ को प्रकाश करता है एक ही क्योंकि जागृत तो का जानने वाले स्वप्न जानने वाले सुश्रुति जानने वाले जो जानता है वही जागृत स्वप्न तीनों को प्रकाश करता है प्रकाश का था आलोक नहीं जानने वाला ज्ञान रूप प्रकाश ज्ञान रूप प्रकाश इतने प्रकाश है जो प्रकाश को भी प्रकाश करता है प्रकाश को भी ज्ञान से जानते हैं सूर्य के प्रकाश को आप जानते हैं सूर्य प्रकाश को जानते मतलब आपका ज्ञान का विशेष सूर्य प्रकाश हो गया ज्ञान से जैसे घट प्रकाशित तो हुआ घट का ज्ञान हुआ तो घट प्रकाशित तो हुआ घट का प्रकाश हो गया ज्ञान हो गया वो ज्ञान को ही प्रकाश शब्द से भी कहते हैं तो घट जिस प्रकार ज्ञान का विषय हुआ ऐसे सूर्य सूर्य प्रकाश भी ज्ञान का विषय होने से घट के समान वो प्रकाश्य हो गया घट का तो प्रकाशक है सूर्य आदि का भी प्रकाशक है सूर्य का जो प्रकाशक है वो ज्ञान रूप प्रकाश है आलोक नहीं है सूर्य को प्रकाश करने के लिए बहुत आलोक होगा तो प्रकाश करेगा नहीं दीप जला करके उसको प्रकाश करने के लिए बहुत बड़ा बहुत आलोक लाओ तो दीपक को प्रकाश करेगा दीप अपने आप प्रकाश है प्रकाश है आलोक और अधिक आलोक जलाएंगे तो दीप और प्रकाश अधिक दिखेगा क्या कम हो जाएगा चंद्र रात में प्रकाश करता है दिन में कभी चंद्र दिखता है किंतु प्रकाश करता है सूर्य प्रकाश आने पर चंद्र प्रकाश कहाँ चला गया पता नहीं चंद्र थोड़ा ऐसे दिखता है अधिक होने पर फिर दिखेगा ही नहीं रहने पर भी शाम के समय प्रातःकाल थोड़ा दिखता है दोपहर के समय दिखेगा कभी नहीं दिखेगा तो सूर्य प्रकाश से जैसे अभिभूत दब जाता है इसी प्रकार बड़े प्रकाश से छोटा प्रकाश दब जाएगा प्रकाश से तो क्या होगा इसी प्रकार सूर्य आदि का प्रकाश करने वाला सूर्य आदि को प्रकाश करने वाला ज्ञान रूप प्रकाश आलोक रूप प्रकाश नहीं वही जो ज्ञान प्रकाश करने वाला जागृत स्वप्न सुश्रुति आदि को तद ब्रह्म वही ब्रह्म है वो आपसे भिन्न है ना तद मतलब वह तत् का परोक्ष में प्रयोग होता है वह ब्रह्म है हम तो नहीं है जागृत सपन सुश्रुति को जानने वाला ही ब्रह्म है तत्का तो वो दूर में कहीं नहीं जागृत सपन सुश्रुति को जानने वाला ही ब्रह्म है जागृत सपन सुश्रुति आदि प्रपंच को जानने वाला आप है हिरण्य गर्भ शब्द विराट शब्द तेजस ये नहीं जानते शब्द अभिमानी को ऐसे जानते नहीं कई पूछते समय उल्ट पाल हो जाता है हिरण्य गर्भ क्या है विराट क्या है शब्द रट करके कभी बोलते कभी नहीं ये नहीं पता है किंतु जागृत सपन सुश्रुति प्रपंच को स्थूल शरीर को सूक्ष्म शरीर को अज्ञान को कारण शरीर को जानते हैं जागृत प्रपंच का सारे प्रपंच हमको दिखता ऐसा नहीं है प्रत्यक्ष दिखता है कुछ कुछ अनुमान से कुछ शब्द से कोई भी द्रव्य को हम प्रत्यक्ष देखते हैं ये ये पुस्तक सबको दिखते है क्या आंख बंद करने से नहीं दिखा नहीं तो दिखेगा किंतु पुस्तक के सब अवयव दिखते हैं एक पुस्तक दिखना पर उसका अवयव जितने अंश दिखता है उससे अधिक अंश है जो नहीं दिखता है मालूम है जितना अंश दिखता है ये पट देखो जितना अंश दिखता है उससे अधिक अंश नहीं दिखता है तो भी पट का प्रत्यक्ष होता है नहीं होता है इसका प्रत्यक्ष होता है हाँ पूरा अवयव उसका प्रत्यक्ष होता है कितना अवयव बाहर दिखा अंदर अवयव प्रत्यक्ष होता बहुत है इसी प्रकार प्रपंच का प्रत्यक्ष होता है कहा था कहते कोई प्रपंच कहाँ सारे प्रमाण हमको दिखता है पूरा ऋषिकेश नहीं दिखता है और यहाँ से देखेंगे तो दूसरा कहाँ बद्रीनाथ तो यहाँ से दिखता नहीं तो कुछ देश दिखने पर प्रपंच का प्रत्यक्ष जितने भी हो बाकी ऐसे तो प्रपंच का प्रत्यक्ष हुआ बाकी अनुमान से शब्द से ज्ञान होता है जितने पदार्थ का ज्ञान होता है वो सब हो गए ज्ञेय पूरा जागृत पदार्थ का ज्ञान होता है जागृत अवस्था में आत्मा को और स्वप्न दृष्टा स्वप्न दृश्य उसका ज्ञेय हो गया और सुसुप्ति में अज्ञान है ज्ञेय प्रकाश करने वाला तीनों अवस्था में रहता है सामने ये है आलोक है आलोक इसको प्रकाश करता है इसको हटा देंगे फेंक देंगे तो आलोक रहेगा दृश्य नहीं रहने पर भी प्रकाश रहता है प्रकाश रहेगा तो उसको प्रकाश करेगा और प्रकाश नहीं रहेगा तो प्रकाश नहीं रहेगा प्रकाश नहीं रहेगा तो प्रकाश रहेगा हम्म, कोई ना मना कर दे घट को हटा देंगे तो जो आलोक प्रकाश है वो रहेगा रहता है प्रकाश्य है तो उसको प्रकाश करेगा प्रकाश नहीं हो तो आलोक तो रहेगा इसी प्रकार जागृत अवस्था का अभाव स्वप्न में स्वप्न का अभाव सुश्रुत में होने पर भी प्रकाश तीनों काल में रहता है जो जागृत को प्रकाश करता है वही स्वप्नों को प्रकाश करता है जगने के बाद तो कहते मैंने स्वप्न देखा तो स्वप्न अवस्था में जो था अभी जागृत अवस्था में वही बोल रहा है भिन्न बोल रहा है और मैं ही गाढ़ निद्रा में सो गया था वही कह रहा है तो जो सुश्रुति अवस्था में था वही अभी जाकर बोल रहा है तो तीनों अवस्था का प्रकाश कर, प्रकाश करता है अवस्था को प्रकाश करने वाला तीन अलग अलग है या एक है एक है ये तीनों को प्रकाश करता है तीनों हो गए प्रकाशीय तीनों अवस्था तीनों प्रपंच स्थूल सूक्ष्म कारण सब प्रकाशीय हो गए प्रकाशक दीर्घ रूप चेतन है और ये सब सारे दृश्य जैसे स्वप्न प्रपंच में जितने स्वप्न में देखा जगने के बाद उसमें से कितना अंश बाकी रह जाता है दृश्य कुछ भी नहीं रहता है सब दृश्य मिथ्या है जगने के बाद कहते ऐसा लगा जितने देखा सब मिथ्या है सत्य कभी कभी दिखता है स्वप्न में देखा जोर से वर्षा हो रही और जग कर देखा सचमुच वर्षा हो रही तो सत्य सपना हुआ ना नहीं सपने में जो वर्षा को आपने देखा वो वर्षा अलग है वो मिथ्या है हाँ अभी वर्षा हो रही है ठीक है ये हो सकता है सपने में जो देखा वो सूचक हो कभी कभी ठीक हो जाता है सपने में देखा कोई व्यक्ति आया आपके पास वो व्यक्ति बहुत दूर में कभी सोचा नहीं सपने देखा आया दूसरे दिन देखा आ गया तो जो देखा था सपने के समय वो ठीक था सत्य था अभी जो आया वो सत्य है हाँ उसके समान सपने में देखा था बहुत समय उसी के विपरीत तो कुछ होता है जो मर गया वो दिखता है जो है जो है वो मर गया तो लगता है ऐसा होता ना नहीं व्यक्ति जिंदा है मर गया कर रोते हैं और जो मर गया वो आकर के रो रहा है जो मर गया वो आकर रोहा जो जिंदा मर गया करेंगे बाद में देखा जो मरा तो दस साल से पहले मर गया था वो अभी आकर रो रहा है मेरा पुत्र मर गया करके पुत्र तो जिंदा है ऐसे सपने में कुछ ना कुछ दिखता है सब मिथ्या है सपन प्रपंच पूरा पूरा मिथ्या है उससे भिन्न है दिखने वाला जिस प्रकार स्वप्न दृष्टा स्वप्न दृश्य से भिन्न स्वप्न से जगने के बाद स्वप्न दृश्य कुछ नहीं रहता है ना स्वप्न देखने वाला दृष्टा रहता है हाँ जो शरीर से आप उस समय व्यवहार करते वो शरीर नहीं रहेगा किंतु स्वप्नों को प्रकाश करने वाला जो रहता है ज्ञान वो ज्ञान रहता है जागृत अवस्था में कहते मैंने देखा साक्षी चेतन तो चेतन एक ही है तीनों अवस्था में अवस्था भिन्न भिन्न होने पर भी घट पट रूप रस गंध स्पर्श सब कुछ जानने वाला एक है भिन्न भिन्न है एक ही विषय भिन्न भिन्न है इंद्रिय भिन्न भिन्न हो किंतु ज्ञाता एक ही इसी प्रकार सपनों को जानने वाला जागृत को जानने वाला सुश्रुति को जानने वाला एक ही हाँ विषय भिन्न भिन्न है जागृत अवस्था में ज्ञेय पदार्थ है स्थूल प्रपंच सपने में सूक्ष्म प्रपंच सुश्रुति में कारण सर कारण अज्ञान किंतु प्रकाश करने वाला एक ही जो प्रकाश के तीनों प्रपंच को प्रकाश करने वाले सारे ब्रह्मांड को प्रकाश करने वाला जितने वस्तु का प्रत्यक्ष नहीं होता है शब्द से भी ज्ञान होता है मेरु पर्वत है ध्रुव नक्षत्र आदि उसके ऊपर भी बहुत नक्षत्र है ज्योतिष शास्त्र में बताते हैं ग्रह नक्षत्र बहुत ही वैज्ञानिकों लोग बताते हैं दूर दूर तक है तो सुन करके ज्ञान होता है कोई कोई विश्वास नहीं करता कोई विश्वास करता है किंतु ज्ञान होता है किसको संशय ज्ञान होता है किसको निश्चय ज्ञान होता है ये अलग है सामने कोई वस्तु है तो भी संशय भ्रम निश्चय तो होता ही है सामने रज्जु है कोई कहता है रज्जु दूसरे कहता है सर्प दूसरे और कोई कुछ कहते किसको संशय होता है ये तो अलग है किंतु ज्ञान होता है और परमात्मक शब्द से प्रामाण्य बुद्धि से यथार्थ ज्ञान होता है शब्द से भी अनुभव होता है अनुभव का तो प्रत्यक्ष नहीं ज्ञान पढ़ने वाले जानते अनुभव शब्द का तो प्रत्यक्ष नहीं है लोक में समान कहते अनुभव होता है अनुभव पर का अर्थ स्मृति भिन्न ज्ञान को अनुभव कहते स्मरण से भिन्न ज्ञान अनुभव प्रत्यक्ष भी होता है अनुमान से भी होता है शब्द से भी अनुभव होता है इसे शास्त्र में शब्द प्रयोग करते अनुभव प्रामाणिक ज्ञान प्रमाण से जो ज्ञान होता है स्मरण से भी ना इसको अनुभव कहते हैं तो ये अनुभव करने वाला जानने वाला दृग रूप चेतन एक है और सारा प्रपंच दृश्य है जो दृग रूप चेतन है जिसको पहले का सब का अधिष्ठान आधारम आनंद मकंड बोध वही तद ब्रह्म वही ब्रह्म है जिसको सामवेद में का सदैव समिधम अगर आसित एकमेवादित्यम एक अद्वितीय ब्रह्म सद एक में आदित्य कह करके अद्वितीय ब्रह्म है स्वगत सजातीय भेद रहित तद ब्रह्म तत्सत्यम स आत्मा तत्वसी वही ब्रह्म सत्य है और वही आत्मा है तुम वही हो ऐसे उपदेश किया गया तद ब्रह्म अहम इति ज्ञातवा वही ब्रह्म मैं हूँ ऐसे जान लेने पर ज्ञान हो तो अज्ञान नष्ट होता है घट ज्ञान से घट का ज्ञान नष्ट हो जाता है घट को जब देखते उसके पहले घट का ज्ञान नहीं था तो क्या था अज्ञानता घट ज्ञान होते अज्ञान नष्ट हो गया तो ब्रह्म ज्ञान होने से अज्ञान नष्ट होता है ब्रह्म मैं ब्रह्म हूँ ऐसा ज्ञान नहीं है ज्ञान के पहले अज्ञान है इस अज्ञान की निवृत्ति होगी अहम ब्रह्म ज्ञान से ज्ञान होने पर सारे बंध से प्रकर्षण मुच्यते पूरा मुक्त हो जाता है राज्य में सर्प देखा आप देखते हैं रज्जु में सर्प रज्जु मालूम नहीं है सर्प सामने दिखता है वो प्रत्यक्ष होता है या परोक्ष है रज्जु में सर्प भ्रम काल में आपको सर्प दिखता है अभी मालूम नहीं रज्जु करके भय लगता है उस समय सर्प का प्रत्यक्ष होता है नहीं होता है प्रत्यक्ष नहीं होता है परोक्ष ज्ञान होता है ये तो रज्जु सर्प रज्जु सर्प कितने <laughs> रोज रोज चलता है अभी प्रत्यक्ष होता है नहीं पता नहीं प्रत्यक्ष नहीं होता है <laughs> क्या न्याय पढ़ने से प्रत्यक्ष नहीं होता है ना सबको प्रत्यक्ष नहीं होता है <laughs> सर्प प्रत्यक्ष नहीं होता है परोक्ष होता है हम्म? प्रत्यक्ष होता है नहीं सर्प ये शास्त्र पढ़ने पर <laughs> कहीं कहीं अधिक अधिक चिंतन करने पर सरल चीज में भी <laughs> कठिन हो जाता है <laughs> और गलती होगा सोच करके अंदर तो मालूम ही प्रत्यक्ष ऊपर प्रत्यक्ष कहेंगे तो गलती हो जाएगी क्योंकि प्रश्न पूछा जाता है तो कुछ अलग होना चाहिए मालूम है प्रत्यक्ष अब प्रश्न पूछते हैं तो सोचते कुछ दूसरा होगा अब प्रत्यक्ष कहें तो गलती हो जाएगी इसलिए डरते रहते करते प्रत्यक्ष नहीं होता है सर्प का प्रत्यक्ष होता है राज्य में सर्प का प्रत्यक्ष होता है किस इंद्र से साक्षी के द्वारा प्रत्यक्ष होता है चक्षुरादि के द्वारा नहीं प्रमाण ज्ञान नहीं है चक्षुरादि प्रमाण से ज्ञान नहीं होता है किंतु प्रत्यक्ष नहीं होता है किसी कोई कहेगा सर्प तुमने देखा या नहीं देखा अब क्या कहोगे सुना में नहीं हाँ देखा वो नहीं मैं देखकर आया कहे नहीं सर्प नहीं रज है मैं सर्प देखा सर्प का प्रत्यक्ष होता है कहते मैंने देखा देखा किसका वो तो अलग बात है साक्षी प्रत्यक्ष होता है सर्प का तो प्रत्यक्ष होने से यदि शब्द से कोई कहे सर्प नहीं है तो भ्रम नष्ट नहीं होता है भ्रम दो प्रकार होता है प्रत्यक्ष भी होता है परोक्ष भी होता है यहाँ बैठे उधर कहेंगे हाथी आ गई अंदर हाथी आ गया कोई प्रामाणिक वस्तु व्यक्ति कहे तो हाथी आ गया पीछे दीवार तोड़ करके दौड़ कर आकर कहा तो ज्ञान हुआ ना हाथी आ गया करके वाह फिर कोई कहा नहीं नहीं हाथी नहीं वो दूसरे कोई चोर तोड़ रहे थे दीवार हाथी नहीं अथा सर्प है कह दिया सर्प नहीं अभी हाथी देखा नहीं किसने ज्ञान हो गया था बाद में ज्ञान हुआ हाथी नहीं है तो अभी हस्ती भ्रम हुआ था हस्ती का जो ज्ञान हुआ था भ्रम हुआ था यथार्थ हुआ था भ्रम हुआ था और फिर सुना वो जिसने बताया वो कहने नहीं हाथी नहीं है वो दूसरे को है तो भ्रम नष्ट हो गया नहीं परोक्ष भ्रम की निवृत्ति परोक्ष ज्ञान से हो जाती है किंतु अपरोक्ष आप सर्प दे करके आ गए दूसरे कहा सर्प नहीं भ्रम नष्ट हो जाएगा यदि सर्प का ज्ञान परोक्ष होता दूसरे कहने पर नष्ट हो जाता दूसरे कहने पर नष्ट नहीं होता है मान लिया आप कहते सर्प है तो ठीक है फिर भी जाकर देखे जब तक अधिष्ठान रज्जु का ज्ञान नहीं हो तब तो, तो सर्प भ्रम रहता है सुनने पर कमरा में सर्प देकर दौड़ कर भाग गया और दूसरे कहेंगे नहीं सर्प नहीं निश्चिंत होकर जाकर सो जाओगे सर्प नहीं तो फिर क्या है हमें तो सर्प देखा कहाँ है जहाँ सर्प देखा हम देंगे कहाँ गया और नहीं है तो वहाँ क्या कहोगे सर्प नहीं भ्रम था कहोगे और कहाँ चला गया मैंने तो सर्प देखा था सर्प देखकर बाहर चला गया और कोई अब गुरु पिता माता कोई कहेंगे सर्प नहीं है जाकर देखते समय कुछ नहीं सर्प नहीं है तो मान लेगा सर्प नहीं था बोला मैंने सर्प देखा था कहीं चला हुआ इधर उधर होए अंदर जा नहीं जाएगा उनको भी मना करे आप नहीं जाओ मैं सर्प देखा हाँ जब अधिष्ठान रज्जु को देख लिया तो भ्रम नष्ट होता है कि हाँ रज्जु ये तो इसको मैं देखा था मुझे सर्प जैसे लगा अपरोक्ष भ्रम की निवृत्ति अपरोक्ष ज्ञान से ही होगी परोक्ष ज्ञान से नहीं होगी हाँ परोक्ष भ्रम की निवृत्ति परोक्ष अपरोक्ष ज्ञान से होगी परोक्ष भ्रम की निवृत्ति अपरोक्ष ज्ञान से होगी क्या या परोक्ष ज्ञान से दोनों से परोक्ष ज्ञान से अपरोक्ष से किंतु अपरोक्ष भ्रम की निवृत्ति अपरोक्ष ज्ञान से ही ये अपरोक्ष भ्रम है संसार सुख दुख में करता सुखी दुखी ये आपको परोक्ष अपरोक्ष होता है प्रत्यक्ष होता है या परोक्ष है सुख दुख संसार ये सब प्रत्यक्ष होता है कष्ट या परोक्ष है अपरोक्ष भ्रम की निवृत्ति अपरोक्ष ज्ञान से होगी अपरोक्ष अहम ब्रह्म से ज्ञान नहीं अज्ञान से संसार ब्रह्म होता है उसकी निवृत्ति होगी अहम ब्रह्म ज्ञान से अपरोक्ष ज्ञान से निवृत्ति होगी परोक्ष ज्ञान से अपरोक्ष ज्ञान के बिना निवृत्ति हो जाएगी नहीं होगी अपरोक्ष ज्ञान चाहिए तद ब्रह्मामिति ज्ञातवा ज्ञातवा मतलब अपरोक्ष न ज्ञातवा साक्षात्कार करके शब्द से सुनने से नहीं शब्द से तो समझ जाता है अहम ब्रह्म है बस एक अद्वितीय ब्रह्म है तुम ब्रह्म हम तो ब्रह्म ही बस बोलते हम तो ब्रह्म है ये तो ज्ञान हो गया श्रद्धा से विश्वास कर मान लिया इतने मात्र से भ्रम की निवृत्ति नहीं होती है अपरोक्ष ज्ञान चाहिए कुछ अपरोक्ष ज्ञान जिनको नहीं होता है आचार्य रूप से कभी उपदेश करना लगते हैं तो कहते अपरोक्ष ज्ञान दूसरा क्या होगा जो ज्ञान आपको हो गया वही तो है तत् ब्रह्म है तुम का तो तुम असी का तो तुम ब्रह्म हो तत्वम तो से सुन करके कुछ ज्ञान हुआ है नहीं बताओ सामान्य व्यक्ति को बताएंगे तत् तो ब्रह्म तम का तो तुम असी का अर्थ हो तो तम असी बाकी अर्थ बोध हो गया या नहीं तुम ब्रह्म हो अब ब्रह्म का होता है परोक्ष नहीं यथ साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म ब्रह्म अपरोक्ष ही है तो आपको जो ज्ञान हुआ पहले मालूम नहीं था महावाक्य अर्थ सुनने के लिए पहले और सुन लिया थोड़ा समझा दिया प्रवचन सुन लिया कुछ पढ़ लिया समझ लिया मैं ब्रह्म हूँ ये जो ज्ञान हुआ वो परोक्ष है या अपरोक्ष है कोई कोई कहते ब्रह्म का अपरोक्ष ही होगा परोक्ष नहीं होगा वही अपरोक्ष है तो अपरोक्ष ज्ञान हो गया और क्या अपरोक्ष होगा बस हो गया अभी पूरा हो गया और आचार्य गुरु कहेंगे तुमको अपरोक्ष हो गया शिष्य के दुख रहेगा नष्ट हो जाएगा संसार दुख नष्ट हो जाता है मान लिया दूसरे को उपदेश करेगा पढ़ा देगा सब हो जाएगा किंतु अपने को मुक्त मानता अंदर से दूसरे तो कहेंगे मुक्त है कहेगा आत्मा तो मुक्त नित्य मुक्त है और आप आत्मा तो नित्य मुक्त है आप मुक्त है ज्ञान और अपरोक्ष ज्ञान जब तक नहीं हुआ जो लोग शास्त्र में भी कहीं कहीं कहा जाता है महावाक्य से अपरोक्ष ज्ञान होता है जो कहते पहले अपरोक्ष होता है वो कहेंगे अपरिचय तो हो गया किंतु दृढ़ नहीं हुआ दृढ़ क्यों नहीं हुआ प्रतिबंध कहे प्रतिबद्ध अपरोक्ष ज्ञान अज्ञान का निवर्तक नहीं है अज्ञान का निवर्तक अपरोक्ष ज्ञान एक मत में कोई कहते पहले परोक्ष ज्ञान होता है मनन निधिध्यासन करने पर संशय विपर्य नष्ट होने के बाद अपरोक्ष ज्ञान होता है वो अज्ञान का निवर्तक पंचोदेश में इसे कहा गया वाचस्पति मिश्र इसे कहते हैं पहले परोक्ष ज्ञान होता है आगे अपरोक्ष ज्ञान होगा अज्ञान का निवर्तक अब विवरण कार्य क्या कहीं कहीं ऐसे शास्त्र में आया पहले से अपरोक्ष ज्ञान होता है अपरोक्ष ज्ञान तो होता है किंतु दृढ़ नहीं है दृढ़ नहीं होने के कारण वो अज्ञान का निवर्तक नहीं है अज्ञान का निवर्तक दृढ़ अपरोक्ष ज्ञान अपरोक्ष ज्ञान हुआ फिर दृढ़ क्यों नहीं हुआ दृढ़ इसलिए नहीं हुआ संशय विपर्य संशय विपरीत भावना है कोई क्या कहते संशय विपरीत भावना है तो ज्ञान हुआ ही नहीं यदि संशय है विपरीत भावना है तो ज्ञान हुआ ही नहीं ये ठीक है संशय है विपरीत भावना है तो ज्ञान हुआ नहीं ज्ञान तो हुआ कहेंगे वो ब्रह्म ज्ञान है किंतु वो अपने को ब्रह्म ज्ञान मानता है अब मैं ब्रह्म ही ज्ञान ब्रह्म कैसे होगा ये तो यथार्थ है ब्रह्म कैसे और संशय होता है संशय विपर्य कैसे होगा ज्ञान होने के बाद कहीं कहीं संशय विपर्य हो सकता है अपरुष ज्ञान भी हुआ संशय विपर्य भी हुआ ये बताते हैं भरछु दृष्टांत से पहले बताया जिन्होंने सुना है मालूम है राजा का मंत्री था नाम भरछु अत्यंत प्रिय था वो सेनापति आदि कोई उसको विदेश जाते समय लोगों को रुपया दिया दस्यु को उसको मार दो मार देने पर ये मंत्री बन जाएगा सेनापति आदि तो वो लोग रुपया ले गए देखा ये मंत्री बहुत अच्छा व्यक्ति उसको क्यों मारेंगे उसको नहीं मार करके दूसरे कहाँ से सिर ला कर दिखा दिया मार दिया भर्ची को उनको बता दिया आप, आप नहीं आना आपके विरुद्ध हमेशा है आयु तो मारेंगे तो उसको पूरा रुपया तो ले गए दस लोग राजा का माल वहाँ भरचो मर गया अच्छा अत्यंत प्रिय था तो दुखी हुआ फिर दूसरे को मंत्री बनाना पड़ा जो चाहता था मंत्री बन गया भरचू तो मरा नहीं था थोड़े दिन तो नहीं आया बहुत थोड़े दिन के बाद फिर सोचा चलते हैं क्या होता है देखा जाएगा मना क्या था जल्दी नहीं आया ना थोड़ी देर के बाद जब आया तो लोग देखा रही तो भरचू जैसे लगता है भरचू तो कहीं आ गया मंत्री तो आ गया कवर हो गया सब हल्ला हो गया तो ये सेनापति जाकर देखा उनको कहा उसको अंदर आने नहीं दो क्योंकि आ जाएगा तो यदि भरसु आ जाएगा मरा नहीं तो उसको तो मंत्री बनाएंगे और घटना पता चले तो इसको प्राण दंड हो जाएगा इसे लोग को लगा दिया अंदर आने नहीं दो तो फिर राजा के पास आ नहीं पाया दूर से आना चाहता है तो पत्थर फेंकते दूर से मारने के लिए भगाते जाए और दूर हट जाता है राजा को भी खबर होगा भरसू नहीं मरा है आया है सब ये बता दिया जा करके भरसू को आपको अपन अत्यंत प्रिय मानते थे भरसू आपको मार करके राजा बनना चाहता था षडयंत्र कर रहा था अभी वो मर गया उसका प्रेत आत्मा आया आपको मारने के लिए तो राज राजा तो सारा भरसू तो मर गया था अभी आया तो तो भरसू कहाँ से आएगा तो मर गया था तो उसका प्रेत आत्मा आया है जरूर है फिर कोई कोई शाम कभी किसी व्यक्ति को भरचू बुलाया प्रिय व्यक्ति को तो उससे जो प्रिय व्यक्ति बोलते चलो भरचू ऐसे दिखता है बुलाते थोड़ा पास में धीरे धीरे सब तो भगाते हैं कहीं रहा दूर में कोई कोई शाम को जाकर देख चलो देखते हैं पास में गई वो बुलाया आओ हाँ, आओ नाम लेकर बुलाया आओ तो फिर बताया कैसे नहीं नहीं नहीं मैं नहीं मरा मैं भरचू आया हूँ ऐसे बोला तो बात करे लोग देखे कुछ नहीं पास गए बात करते भाई अब पास में बात करते तो देखे कि ये तो भरचू बात कर रहा है किसी प्रकार बोला राजा को थोड़ा बता हूँ कि मैं नहीं मरा हूँ मैं प्रेत नहीं ऐसे लोग जाकर राजा को बता दिए भरचू कहता है वो मरा नहीं हो प्रेत नहीं सयो ऐसा तो राजा को थोड़ा लगा संशय वो जा के दूर से चलो तो मैं थोड़ा दूर से तो देख लूँ पास में नहीं भरचू आया इतने अच्छा व्यक्ति था दूर से दूर से देख रहा है राजा दूर में खड़ा है भरचू हाँ प्रणाम कर रहा है राजा उसको देख रहे संशय होता है सचमुच ये भरचू है या प्रेत आया है और विपरीत भावना क्या है भरत मर गया है मर गया था ये फिर कहाँ से आया तो जरूर प्रेत होगा अब उसको देखते हैं भरचु को संशय है भरचु है अथवा प्रेत है संत संशय है और विपरीत भावना क्या है मर गया ये तो उसका प्रेत आत्मा है संशय विपर होने पर भी जो राजा को भरचु का दर्शन हो रहा है देख रहे वो परोक्ष है अपरोक्ष है जोर से बोलो पीछे वाले को अपरोक्ष है परोक्ष होता है भरचू का राजा को परोक्ष होता है अपरोक्ष होता है अपरोक्ष परोक्ष नहीं होता है परोक्ष मानने वाला हाथ उठाओ सबको अपरोक्ष भरचू को राजा देखता है अपरोक्ष होता है अपरोक्ष होते समय संशय और विपरीत भावना है तो अपरोक्ष ज्ञान होते समय संशय विपरीत भावना रह सकती है तत्व से महावाक्य सुन करके अपरोक्ष ज्ञान हो जाता है ऐसे कोई कहते हैं किंतु संशय भी है हम कैसे ब्रह्म होंगे और हम तो जीव है संसारी है दुखी है ये संशय विपर्य भावना होने से राजा को अपरोक्ष होने पर भी राजा उसको अपरोक्ष भर चुका अपरोक्ष मानता है डरता है वापस आ जाता है फिर जाता है फिर जा करके धीरे धीरे उसकी बात सुनता है पास में जाता है बाद में भर्चु को प्राप्त करता है राजा निश्चय होता है संशय विपर रहित ज्ञान होता है तब भर्चु को ग्रहण करता है पहले भर्चु का तो अपरक्ष हुआ था कि अपरक्ष होने पर भी भर्चु नहीं मानता कि भर्चु को मैं देखा वो तो सोचता है प्रेत आत्मा संशय था इसी प्रकार तत्व से सुनने पर अपरोक्ष ज्ञान तो होता है किंतु संशय विपर्य प्रतिबंधक रहने के कारण नहीं लगता है कि मुझे अपरोक्ष ज्ञान हुआ तो वो ज्ञान जो हुआ आपको लगता है मुझे अपरोक्ष नहीं हुआ और विद्वान लोग कहते वो अपरोक्ष है वो ज्ञान से अज्ञान की निवृत्ति हो जाएगी या नहीं होगी नहीं होगी आपको संशय विपर रहे तो ज्ञान होगा तो अज्ञान की निवृत्ति होगी इसलिए अपरोक्ष शब्द से कह देने से क्या हो जाएगा आपको लाभ क्या होगा अपरोक्ष शब्द से आचार्य कह दे तुमको जो ज्ञान हो गया अपरोक्ष हो गया तो दुख निवृत्ति हो जाएगी क्या अपरोक्ष कब होगा जो प्रतिबंध नष्ट होगा संशय विपर नाश करना है मनन निधिध्यासन करके तो सब प्रतिबंध का नष्ट हो गया तब उसको कहेंगे दृढ़ अपरोक्ष जो पहले अपरोक्ष शब्द कहते थे आगे क्या कहेंगे दृढ़ अपरोक्ष और जो परोक्ष कहते थे वो क्या कहेंगे अभी अपरोक्ष हुआ तो दृढ़ अपरोक्ष कह केवल अपरोक्ष कह वही ज्ञान संशय विपर रहित ज्ञान ही अज्ञान का निवर्तक थोड़े शब्द सुनने पर तत्वमसी वाक्य से जो तुम ब्रह्म में ब्रह्म सुन लिया ये ज्ञान अज्ञान का निवर्तक नहीं है इतने मात्र से अज्ञान की निवृत्ति होगी तो क्यों तीन साल पाँच साल पढ़ाने क्या जरूरत है एक घंटा में बता देंगे कोई कहते नहीं महावाक्य लक्षणा बताना तो एक सप्ताह ले लो ज़्यादा से ज़्यादा एक सप्ताह में ज्ञान का उपदेश हो जाएगा सौ ज्ञानी हो जाएंगे इसलिए संशय विपर रहित ज्ञान के बिना अज्ञान की निवृत्ति नहीं होती है उसलिए मनन निधिध्यासन की आवश्यकता है मनन निधिध्यासन से संशय विपर निवृत्त होता है तभी उसको अपरोक्ष दृढ़ अपरोक्ष कहते हैं और भगवान भाष्यकार ब्रह्मसूत्र में भाष्यकार ने कहा है आवृत्ति रसकृत उपदेशात वहाँ कहा तत्व पदार्थ में जिनका संशय विपर रहित ज्ञान नहीं हुआ उनको महावाक्य अर्थ बोध होता ही नहीं है जिस प्रकार तर्क संग्रह बताते वन्यना सिंचेत वन्य से वन्यना का अर्थ तृतीयांत वन्य के द्वारा सिंचेत सेचन करे सेचन का अर्थ तो फेंकना नहीं सिंचित सेचन सिंचित आर्द्रिक आर्द्रीकरण गीला करना जैसे जल से पेड़ पौधा गीला करते हैं इसे वन्य से पेड़ पौधे को सेचन कर लो गीला कर लो वन्नी फेंकने से गिला हो जाएगी पेड़ पौधे वन्नी ना शब्द का अर्थ समझ आ गया सिंचेत शब्द का अर्थ भी समझ आ गया वन्नी ना सिंचेत इस शब्द का अर्थ ये वाक्य का अर्थ ज्ञान हो गया नहीं हुआ एक और बहुत समझदार वेदांत पढ़ते थे मैं पूछा वन्ना सिंचित इसका ज्ञान हो गया नहीं सब हाँ हो गया इनका जैसे हो गया इसे महावाक्य का अर्थ बोध हुआ अभी बनी ना सिंचते में क्या ज्ञान हो गया बनी के द्वारा गिला करे यही तो अर्थ है ना वाक्य वाक्य वाक्यार्थ बोध नहीं होता है बोलो बनी ना सिंचेत तो बन्नी के द्वारा पेड़ पौधा को गिला करे वाक्यार्थ बोध हुआ या नहीं हुआ <laughs> देखो नहीं पूरा बन्नी के द्वारा सेचन करे गिला करे पेड़ पौधा को क्या इसमें संशय कठिनता क्या है तर्क संग्रह पढ़ने वाले कहेंगे नहीं होता है जो तर्क संग्रह नहीं पढ़ा उनको लता हो जाता है जो न्याय नहीं पढ़ते हैं कुछ ऐसे समझदार है अच्छे पढ़े लिखे बहुत कहते हो गया इन तो नहीं हुआ क्या फिर हो गया अल्लाह हम तो लगता है ज्ञान हुआ बनी के द्वारा सूचन करें ये पदार्थ का ज्ञान हुआ वन्नी ना इस पद का अर्थ ज्ञान हो गया सिंचित इस पद का ज्ञान हो गया किंतु वन्नी के द्वारा गिला करना कैसा है योग्यता नहीं होने से वो वाक्यार्थ बोध नहीं होता है पदार्थ बोध अलग वाक्यार्थ बोध अलग एक एक पद का अर्थ बोध हो जाने पर भी वाक्यार्थ बोध नहीं होता है पदार्थ बोध वाक्यार्थ बोध में क्या भेद है पांच पद है पांच पदार्थ का ज्ञान हो गया तो वाक्यार्थ बोध हुआ है नहीं हुआ नहीं हुआ क्या अब कमती रहा हाँ वाक्यार्थ में इतने है पदार्थों का अन्वय होना चाहिए पांच पद का पांच अर्थ पांच पद सुना सबका एक एक अर्थ पांच अर्थ हो गया पांच अर्थ का परस्पर अन्वय संबंध होगा तो वाक्यर्थ बोध कहा जाएगा पांच पद सुना किसके साथ कोई अर्थ का संबंध नहीं तो वाक्यार्थ बोध होगा पांच पद सुना पांच पद का परस्पर अन्वय हो अन्वय बोध कहते वाक्यार्थ बोध को उसमें आया पुरुष हस्ती दंडाजिनम दाढ़ीमम ऐसे ऐसे पांच पद का बोध हो जाए ना नहीं सपद का अर्थ हो गया पूरा क्या कहना चाहता है आकांक्षा योग्यता सन्निधि होने पर वाक्यार्थ बोध होगा योग्यता नहीं बन्नी में आर्द्रीकरणत्व की योग्यता नहीं गीला करने के लिए बन्नी के द्वारा कैसे पेड़ पौधा गीला करना तो वाक्यार्थ बोध नहीं हुआ तो बार बार कहीं जाओ बन्नी में सिंचन करो बन्नी में सिंचन करो और खड़ा डर कर भाग जाओ थोड़ी देर फिर आकर कह है से कैसे गीला करेंगे वाक्यार्थ बोध हुआ पदार्थ बोध हुआ इसी प्रकार तत्व में से सुनने पर तत्पद का तो ब्रह्म तम पद का तो मैं असी का तो हूँ ये पदार्थ बोध हो गया किंतु मैं ब्रह्म हूँ ऐसे ज्ञान नहीं हुआ ऐसे ही लगा लगता है कि पद वाक्यार्थ बोध हो गया कभी कहीं आचार्य लोग इसे पढ़ाने वाले सिखा देते कि पदार्थ बोध हो गया तुम ब्रह्म ज्ञान हो गया और क्या ज्ञान होगा यही तो ज्ञान है ये नहीं है ये उसको कहते पदार्थ बोध इसलिए न्याय की आवश्यकता है कम से कम तर्क संग्रह भी पढ़े तो पता चलेगा वर्णिना सिंचित इसे वाक्यार्थ बोध नहीं होता है कुछ लोग न्याय का द्वेष करते न्याय को नहीं पढ़ाएंगे तो तर्क संग्रह भी नहीं पढ़े तो वनिना सिंचेसलता ज्ञान हो गया वाक्यार्थ बोध नहीं है इसी प्रकार तत्वम शिष्य जो सुना वाक्यार्थ बोध नहीं है पदार्थ बोध मात्र इतने मात्र मोक्ष हो जाएगा क्या वाक्यार्थ बोध चाहिए अहम ब्रह्म इसके लिए मनन निधिहासन करना पड़ता है तब अपरोक्ष ज्ञान दृढ़ अपरोक्ष ज्ञान कहो अथवा संशय अपरोक्ष ज्ञान हो दृढ़ संशय विपर रहित ज्ञान ही अपरोक्ष ज्ञान अज्ञान का निवर्तक पहले अपरोक्ष शब्द प्रयोग करेंगे तो वो प्रतिबद्ध अपरोक्ष प्रतिबद्ध प्रतिबंध युक्त अज्ञान निवर्तक नहीं प्रतिबंध की निवृत्ति होने पर अप्रतिबद्ध अपरोक्ष ज्ञान इसको दृढ़ अपरोक्ष ज्ञान कहते हैं और जो पहले कहते हैं अपरोक्ष होने पर भी उसको तो अपरोक्ष जैसे लगता नहीं है वो परोक्ष ज्ञान है बाद में अपरिचय कहते अब भगवान भाष्यकार कहते अभी विचार करेंगे तो उसको वाक्यार्थ बोध होता ही नहीं पदार्थ बोध हो गया त्वम पदार्थ का ज्ञान जब तक संशय विपर रहित ज्ञान नहीं हो तो वाक्यार्थ बोध होगा ही नहीं मैं अल्पज्ञ अल्पशक्तिमान परिचिन्न साहंकार यहाँ कमरा में बैठा हूँ अब ब्रह्म व्यापक है सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान एक कैसे होगा योग्यता नहीं एकत्व होने की योग्यता नहीं तो साब पदार्थ बोध होता ही नहीं जैसे वर्णिना सिंचित वाक्यार्थ बोध होता ही नहीं इसलिए पहले त्वम पदार्थ का संशय विपर रहित ज्ञान हो गया त्वम पदार्थ का तो कुटस्थ हमको मालूम है जागर सपन सरस्वती को जानने वाला जो चैतन्य वही तो त्वम पद का अर्थ है वही कुटस्थ है वही साक्षी ज्ञान है या नहीं त्वम पद का अर्थ क्या हुआ जागृत स्वप्न सरस्वती को जानने वाला आप तीनों को जानते हो वही तुम तो अर्थ थे समझ आ गया ना नहीं त्वम तो पद समझ आ गया जागृत स्वप्न सरस्वती को जानने वाला है किंतु उसमें अपरोक्ष ज्ञान चाहिए संशय विपर्य रहित देह में हम बुद्धि नहीं वो समझे तो आ गया है वही मैं हूँ वही मैं कहते समय देह में हम बुद्धि होती है नहीं बताओ स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर को छोड़ करके अपना शुद्ध चैतन्य ऐसे समझो शब्द से समझते हम देश स्थूल शरीर सूक्ष्म नहीं शुद्ध चैतन है और शुद्ध चैतन कहते समय इधर में अशुद्ध चैतन में हूँ शुद्ध चैतन कहीं अंदर हो अथवा उधर है शरीर को मैं कहते समय अहम अहम ब्रह्म कहते समय ये शरीर स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर उपस्थित हो जाता है इसको छोड़ करके शुद्ध चैतन्य ऐसा निश्चय हो जाए संशय विपर्य रहित विपर्य कहते विपरीत ज्ञान ब्रह्म ज्ञान अनात्मा को छोड़ करके केवल आत्मा का ज्ञान हो तो विपरीत ज्ञान अभी भी हमको आत्मा के ज्ञान है पुष्पम अस्थि ज्ञान हुआ इसमें भी ब्रह्म है सदरूप ब्रह्म है ये ज्ञान से अज्ञान की निवृत्ति हो जाएगी पुष्पम अस्थि अस्थि सदरूप ब्रह्म है ये ज्ञान हो गया ना नहीं पुष्पम सत सत है ब्रह्म तो पुष्प ब्रह्म ब्रह्म ज्ञान हो गया ये ज्ञान से अज्ञान की निवृत्ति क्यों नहीं होगी सत्य के साथ पुष्प अनात्मा भी है अनात्मा के बिना केवल सद ब्रह्म का ज्ञान होगा इदम तेन नहीं अहम अहम कहते समय अनात्मा देह स्थूल सूक्ष्म कारण कुछ भी नहीं रहे तो ज्ञान संशय विपर रहित ज्ञान हो तभी ब्रह्म ज्ञान होगा पदार्थ के संशय विपर रहित ज्ञान नहीं तो वाक्यार्थ बोध होता ही नहीं है जो लगता है कुछ हो गया वो पदार्थ बोध है इसको समझ करके नहीं तो इसे भ्रांति हो जाती है ब्रह्म ज्ञान जितने को होता है उससे अधिक लोग भ्रांति हो जाती है ऐसे लगता है ज्ञान हो गया फिर कुछ लोग ज्ञान मान करके उपदेश करते बाद में ज्ञानित्व का आरोप करके कहना पड़ता है फिर पीछे आएंगे तो शर्म लगे सबके सामने कहें ब्रह्म ज्ञान नहीं हुआ अभी तक तो, तो ज्ञानी मानकर हम गुरु मान रहे थे अभी गुरु जी कहते हमको ज्ञान नहीं हुआ बेजीत होगी ना इसे सबके सामने ज्ञानी बनना पड़ता है ये भी बहुत लोग है ऐसा नहीं सावधान रहना कोई महात्मा के पास जाकर किसने कहा हमको लगा मुझे ब्रह्म ज्ञान हो गया उन्होंने कहा हाँ इसे कितने बार लगेगा ऐसे <laughs> कितने बार भ्रांति होगी अभी तक तो पहले हुआ कितने बार ऐसे लगेगी मतलब ऐसे लगता ही रहता है फिर फिर अपने आप समझ आ जाता कुछ नहीं हुआ फिर कुछ इससे सावधान रहना है भ्रांति बहुत होती और आरोप नहीं करना मैं ब्रह्म हूँ ये चिंतन करने में कोई अपराध नहीं अहम अस्में ब्रह्म ये ठीक है यथार्थ है सत्य है कोई विरोध नहीं चिंतन करना मन से दूसरे को सुनाने से कोई लाभ नहीं किंतु मैं ब्रह्म ज्ञानी या ब्रह्म ज्ञान मुझे हो गया ऐसी भावना नहीं करनी अहम अस्मिन ब्रह्म ये ठीक है और ब्रह्म ज्ञानी में हूँ ब्रह्म को जान लिया ये भावना नहीं ये है इनसे पतन हो जाता है ये ये सर्वबंध से प्रमुक्त तो हो जाता है जब संशय विपर रहित तो ज्ञान हो उसके लिए श्रवण के बाद मनन निधिध्यासन करना पड़ता है टीका में देखो जागृत स्वप्न सुषुप्त आदि प्रपंचम जागृत अवस्था क्या है इंद्रिय विषय उपलब्धि जागरणम सपनाया इंद्रिय उपरम होने पर वासना प्रपंच होता है स्वप्न में निद्रावस्था में सुश्रुति में सूल सूक्ष्म सब उपरत हो गए मन आदि इंद्रिय भी उपरत होते हैं किसी का ज्ञान नहीं रहता है गाढ़ निद्रा सुश्रुति पहले कहे गई जागृत स्वप्न सुश्रुत उक्ता कहे गई तदादय वो आदि रेशा जागृत स्वप्न सुश्रुति और कौन है विश्व विराट आदय विश्व विराट आदि से तेजस हिरण्य गर्भ प्राज्ञ ईश्वर सारे कुछ तेव प्रपंच ही सब प्रपंच ही तीनों अवस्था तीनों शरीर उसमें अभिमानी और पंच कोश सत्य है मिथ्या है तीनों शरीर में पांच कोष भी आ जाएंगे दृश्य पदार्थ सब कुछ है एवं प्रपंच जागृत स्वप्न सुश्रुति आदि प्रपंच यद प्रसिद्धम ये प्रपंच प्रसिद्ध है प्रपंच प्रसिद्ध है प्रपंच क्या है प्रपूर्वक पक्षी विस्तार धातु से घाय करो पक्षी विस्तार है नुम होता पंच विस्तार प्रकर्षण विस्तार प्रपंच का अर्थ विस्तार हो गया अज्ञान से एक ब्रह्म है और अनेक दिखता है यही विस्तार प्रकर्षण प्रपंच यही संसार है संपूर्क श्री गत्यर्थ धातु से घय करो संसार संसरणम सम्यक गमन चलता रहता है ब्रह्म तो शांत है कूटस्थ है स्थिर है किंतु संसरण ये जीव अज्ञान के कारण अपने को अलग मान करके देहादि में अहम बुद्धि करके जन्म मरण जन्म मरण निरंतर चलता है संसार सांसुख दुख प्राप्त करता है ये प्रपंच प्रसिद्ध है स्वयं प्रकाशते प्रपंचम यत प्रकाशते जो प्रकाश करता है प्रकाशते कहा था प्रकाश यदि जो प्रकाश करता है स्वयं ब्रह्म स्वयं ही प्रकाश करता है स्वयं आप दृष्टा दृक तदुतम स्वयं प्रकाशम ब्रह्म ब्रह्म स्वयं प्रकाश है अन्य प्रकाश के ना प्रकाशमान होता है स्वयं प्रकाश ब्रह्म को प्रकाश करने के लिए और कौन प्रकाश है कोई दूसरा है नहीं स्वयं प्रकाश ब्रह्म वो ब्रह्म का लक्षण क्या है सत्य ज्ञान आदि लक्षण सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म तैतृ उपनिषद आया वो सत्य है ज्ञान है अनंत है सत्य है कौन से अव्यभिचारी हमेशा ही रहता है एक रूप तीनों काल में किसी उसका व्यभिचार नहीं होता है ना भाव बीतते सत सत का अभाव नहीं होता कहीं भी कभी भी मिथ्या नहीं सत है और ज्ञान है जड़ नहीं है चिद्रूप चेतन है और अनंत है अनंत का अर्थ अपरिचिन्न परिच्छेद रहित देश परिचय नहीं काल परिचन्न नहीं वस्तु परिचन्न भी नहीं देश परिचन्न नहीं इसका अर्थ व्यापक सर्वत्र है काल परिच्छिन्न नहीं का अर्थ तो उसकी उत्पत्ति नहीं नाश भी नहीं सर्वदा है और वस्तु परिचन्न नहीं का अर्थ तो उससे भिन्न कुछ भी नहीं है ब्रह्म से भिन्न कुछ मानेंगे तो ब्रह्म वस्तु परिचिन्न हो जाएगा जिससे भिन्न कोई पदार्थ है वो वस्तु परिचिन है घट से भिन्न पट है तो घट वस्तु परिचन्न है पट घट नहीं घट पट नहीं वस्तु परिचन्न है जो अनोन्या भाव का प्रतियोगी जिससे कोई भिन्न हो गया वो अनुन्य भाव का प्रतियोगी है पुष्प से भिन्न है फल भिन्न है क्या फल पुष्प से भिन्न है पुष्प से भिन्न हुआ तो अन्य भाव का प्रतियोगी कौन होगा पुष्प से भिन्न है फल अन्य भाव का प्रत्यय कौन होगा पुष्प या फल पुष्प से भिन्न कौन से पुष्प का भेद फल में पुष्प का भेद फल में रहने से फल का भेद पुष्प में रहेगा वो अलग बात है पुष्प का भेद फल में रहेगा जिसका भेद है वो भेद का तो अन्य भाव जिसका अन्य भाव है वही प्रतियोगी है यश्य भाव सब प्रतियोगी पुष्प का भेद फल में रहा तो अन्य भाव किसका पुष्प का तो प्रत्यय कौन होगा पुष्प फल प्रत्यय कब होगा फल का भेद पुष्प में फल का भेद पुष्प में है क्या है फल का भेद पुष्प में है तो अन्य अभाव कहाँ रहेगा फल का भेद पुष्प में है अन्य अभाव कहाँ रहेगा फल में फल का भेद पुष्प में है भेद का तो अन्य भाव फल का भेद पुष्प में है तो अन्य भाव पुष्प में है किसका अन्य भाव फल का अन्य भाव का प्रतीक कौन होगा फल ब्रह्म से भिन्न कोई पदार्थ मानेंगे तो ब्रह्म अन्य भाव का प्रतीक हो जाएगा वस्तु परिचन्न हो जाएगा ब्रह्म वस्तु परिचन्न है या नहीं अनंत का था अविद्यमान अंत जिसका परिचय है ही नहीं कोई भी परिचय नहीं एक भी रूप जिसमें है उसको निरूप कहें क्या ये निरूप है निरूप नहीं है इसी के रूप को छोड़कर बाकी सब रूप का इसमें अभाव है इसका जो रूप है ये तो है उसको छोड़ करके ये देखो ये रूप ये दोनों का रूप कौन सा रूप इसमें है कोई है इसी प्रकार जितने पदार्थ आपके सब कपड़ा में वस्त्र में जितने रूप है सब रूप का अभाव इसमें है ना नहीं अनंत रूप का बहुत रूप का अभाव होने पर भी उसको अरूप कहेंगे क्या क्योंकि एक रूप है इसी प्रकार अनंत कब कहेंगे यदि एक भी अंत नहीं रहे एक भी यदि अंत रहेगा परिच्छेद रहेगा तो अनंत होगा ब्रह्म अनंत है इसका अर्थ एक भी परिच्छेद ब्रह्म में नहीं है देश परिच्छेद नहीं काल परिच्छेद नहीं और वस्तु परिच्छेद भी नहीं है अर्थात ब्रह्म से बिना कुछ भी नहीं है इस अनंत शब्द का अर्थ को विचार करके निश्चय करे ये अनंत शब्द का ज्ञान हो जाएगा तो ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा अनंतम ब्रह्म ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः